हम भी खुद इस चक्कर में है किस तरह बताए कहाँ के है जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के है न वहाँ के है बिजला ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है संसार चक्र कुछ ऐसा है दम दम पर रंग बदलता है ऐसे आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी हैं ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं देता विदेश में ठीक पता न किसी को कोई है जो उधर आपकी संगत है बस ठीक इधर भी वही है लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद लजा गए कुछ पवन सुध रहा मैं हाल आए हैं किस जगह से कितने पके हैं लाल तब फिर बोले अवध पते है अब अवध किशोर आए थे बनवास को हरि नारी सोर अपने सीता को ढूंढ रहे सुध नहीं अभी तक पाए है धनियों के सब है मददगार निर्धन का कौन सहाय है अब दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर कर देंगे दुष्टहीन धरती आशा है अपने बाणों पर पूछा तो हमने प्रकट किया अन्यथा न कहना अच्छा है जग में तो सभी स्वार्थी है कोई न किसी का सुनता है ढिंग कोई न आवे दुनिया तो धन पर धावे निर्धन ढिंग कोई न आवे सागर में पानी बर से मरुभूमि बूंद कुतर से पानी पानी पुत्र है एक पिता के सीधे है कोई बाकी यह कौन किसे समझ जब भगवान अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान सच्चे परखैया के आगे हेरान रलाए रलता है यह मसला अभी जानता सिया करे हम उसका दिया बुझाएंगे आज्ञा तो प्रभु की ही होगी पालन हम करते जाएंगे भले अपना पुण्य लगा देंगे सीता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव वानरों का यह वनवासी यह गिरवासी संयोग एक है दोनों का सुग्रीव बधु है बाल भवन राघव के सीता हरी हुई इसलिए परस्पर प्रीति हुई आशा के दुख की भरी यह नहीं बढ़ाकर कहना है हे श्रोता गण ये समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है दोष तीन कर दे अलग मतलब लालच दाम तो सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम है अर्थ यही तो दोस्ती का दोनों में दोष न हो कोई चले न उसको चलने दे अपने ऊपर सब दुख ले ले दिल नहीं दोस्त का दुख ले दे क्या जिक्र क्या जिक्र यहाँ का जर का सर देने में इनकार न हो हर वक्त दुआ यह दिल से हो गमगीन हमारा यार न हो सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक साथी हो जो दुख के वह लाखों में एक मित्रता ने ऐसा रिश्ता है जब जे चाहा तब छोड़ दिया मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया मुंह देखे हाँ में हाँ करना मित्रों को नहीं मुनासिब है लेने देने में गौर करे यह नहीं कभी भी वाजिब है यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो वह जफा करे तुम वफा करो वह दगा करे तुम दुआ करो जो न मित्र दुख से दुखे तपता अपने ताप ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप जो सच्चे मित्र जगत में है वे कब यह बात जानते हैं सब धर्मों से वह बड़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं सर्वत्र दुष्ट आचरणों से मित्रों को मित्र बनाते हैं बादल के नाये गर्मा कर ठंडा पानी बरसाते हैं अपना दुख पर्वत के समान राय के भात जानते हैं राय के भात मित्र का दुख पर्वत की तरह मानते संबंध प्राण तन का सा है जब मृत्यु आए तब जाता है ऐ क्रोध दूध का सा उबला जल पड़ते ही दब जाता है लक्षण है यही मित्रता के यही सच्ची दिलदारी है इन दिनों फर्जी कहा होशियारी है गमखारी का क्या जिक्र यहाँ खुमखारी ही खुमखारी है जब कहा मित्र ने मदद करो बोले हम कब तैयार नहीं मुँह पेर बढ़े जब आगे तो यह सिर दर्दी स्वीकार नहीं धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते तो तो अपने जेबे भरने को जब उसको मित्र बनाते तो उसके दौलत के दुश्मन बन दौलत उसको सिखलाते हैं यारी में कर सियाहकारी सब सत्यानाश कराते हैं ऐसे खुद गर्जी पर तुप है ऐसे यारी पर लानत है जो हाजे हाजे करता है इन दिनों वही खुशकिस्मत है सब और व्यर्थ है यह वर्णन हम मुख्य कथा पर आते हैं त्रेता युग की यह बातें हैं जिस गाथा को हम गाते हैं कपिवर को प्रवर रघुवर ने जो प्रेत रीत दिखलाई है यदि राय हमारे लेते हो तो सच्ची यही मिताई है दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल सीता सुध मिल जाएगी करे न आप